भीतर देखता हूं तो एक अपूर्व आनंद है और बाहर देखता हूं तो दुख का एक सागर खड़ा है अगर भीतर ही जीना चाहूं तो मुझे कोई भी दुख नहीं है कोई पीड़ा नहीं है और इस देश के भीतर जीने वाले लोग सदा ही बाहर से आंख बंद करके भीतर जीते रहे हैं निश्चित ही भीतर न कोई दुख है न कोई पीड़ा है न कोई अशांति है एक ऐसी दुनिया भी है भीतर जहां सरक जाने पर बाहर के जगत की कोई भी तरंग नहीं पहुंचती एक ऐसा लोक भी है भीतर जहां उठ जाने पर पृथ्वी का कोई पता नहीं रह जाता है स्वयं के भीतर भी एक ऐसा बिंदु है जहां समाज मिट जाता है राष्ट्र मिट जाते हैं मनुष्यता मिट जाती है सब जो बाहर है मिट जाता है बहुत आनंदपूर्ण है वो जगत सौभाग्यशाली है वे लोग जो वहां प्रविष्ट हो जाते हैं उस लोक में प्रत्येक को प्रविष्ट होने की चेष्टा करनी चाहिए यही निरंतर मैं कहता हूं लेकिन वे लोग भी अभागे हैं जो वहीं रह जाते हैं और बाहर के दुख को बिल्कुल भूल जाते हैं अपने दुख को मिटा लेना काफी नहीं है चारों तरफ जो दुख खड़ा है उसे मिटाने में सहयोगी होना भी अत्यंत जरूरी है और जिस देश के साधु संत अपना दुख ही मिटाने की चेष्टा में रत उस देश के साधु संत आधे साधु संत है ठीक अर्थों में पूरे संत और पूरे साधु नहीं ये बहुत स्वार्थपूर्ण मालूम पड़ता है कि मैं अपने आनंद में डूब जाऊं और बाहर जो जगत दुख और पीड़ा में सरकता हुआ जो कारवा है वो सरकता रहे मैं आंख बंद किए अपनी खुशी में डूबा रहूं यह अत्यंत स्वार्थपूर्ण बहुत निम्न बहुत ओछे मन की वृत्ति मालूम पड़ती है लेकिन इस देश के साधु संतों ने आज तक यही निर्णय लिया था अपनी शांति खोज लो और किसी से कोई प्रयोजन नहीं इस देश के दुर्भाग्य में इसी निर्णय का हाथ है इस देश से ज्यादा अद्भुत लोग शायद ही पृथ्वी पर कहीं पैदा हुए इस देश से ज्यादा बुद्धिमान ज्यादा शांत ज्यादा आचरणशील ज्यादा सत्य को उपलब्ध व्यक्ति भी कहीं पैदा हुए हों ये संदिग्ध लेकिन इस देश से ज्यादा दुखी और पीड़ित कोई देश नहीं इस देश से ज्यादा क्रूप और गंदा कोई समाज नहीं जिस समाज में महावीर होते हों बुद्ध होते हों कबीर होते हों गांधी होते हों वो समाज ऐसा निम्न ऐसा ओछा ऐसा बुरा ऐसा क्रूप हो तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा और वो कारण यह है कि भारत का कोई भी महापुरुष समाज के प्रति जरा भी उत्सुक नहीं है सिवाय अपनी शांति और आनंद के और भारत का समाज भी अद्भुत आत्मघाती समाज है वो उसी आदमी की पूजा करेगा और संत कहेगा जो आदमी आंख बंद करके अपनी शांति में खो जाएगा और जिंदगी को भूल जाएगा मुझे भी यही आनंदपूर्ण है यही सरल है कि अपने में खोया रहूं वहां मुझे कोई तकलीफ नहीं कोई पीड़ा नहीं लेकिन ये मुझे अमानवीय इनह्यूमन मालूम होता है कि बाहर जब इतना दुख का सागर हो तब ये कैसे संभव है कि कोई आदमी चुपचाप अपने भीतर के आनंद को लेता रहे ये कैसे संभव है कि जब बाहर चारों तरफ चारों तरफ बीमारी हो तब कोई आदमी अपने भीतर के सुख में अपने सुख के मंदिर में बैठा है मुझे लगता है कि जो व्यक्ति आनंद को उपलब्ध होता है आनंद को उपलब्ध होते ही उसके ऊपर एक कर्तव्य जैसे परमात्मा की तरफ से आ जाता है कि वो दूसरों के लिए भी आनंद के रास्ते पर पत्थर रखे दूसरों के लिए भी आनंद की सीढ़ियां बनाए और दूसरों के लिए भी दुख के गड्ढों में जाने से रोकने का प्रयास करें और जिस समाज का साधु जिस समाज का विचारशील जिस समाज के शांत लोग ऐसा निर्णय नहीं लेते मुझे लगता है उनकी शांति अधूरी है कमजोर है उनकी शांति डरती है कि अगर वो बाहर के दुख को मिटाने में संलग्न हुए तो टूट जाएगी और हमारी तो आदत इतनी पुरानी हो गई है इस बात को जानने की कि संत को साधु को क्या प्रयोजन है दुनिया से निश्चित ही कोई प्रयोजन नहीं है संत को और साधु को दुनिया से अपने लिए कोई भी प्रयोजन नहीं है लेकिन अपने अतिरिक्त और भी व्रत समाज है उसके लिए बहुत प्रयोजन है मुझे निरंतर पूछा जाता है मुझे क्या अर्थ है कि मैं समाज की क्रांति की बात करूं मुझे क्या जरूरत है कि मैं फिक्र करूं कि समाज कहां विकृत हो रहा है कहां कुरूप हो रहा है मैं क्यों चिंता करूं कि लोगों को क्या हो रहा है और बड़ा आश्चर्य यह है कि जिन लोगों के लिए चिंता करो वही आके कहेंगे कि क्यों चिंता करते हैं आप जिनके लिए परेशानी उठाओ वही आके कहेंगे कि आप हमारे लिए परेशानी उठाते हैं तो हमें शक होता है कि आप कहीं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं उनका कहना भी ठीक है हजारों साल से इस देश का धार्मिक आदमी एस्केपिस्ट रहा है पलायनवादी रहा है इस देश के धार्मिक आदमी का अर्थ था भागा हुआ आदमी जो जिंदगी से आंख बंद कर लेता है लेकिन ऐसे आदमी को मैं अधूरा धार्मिक आदमी कहता हूं अपने आनंद को खोज लो वो ठीक है और ऐसे आनंद की क्या कीमत है जो दूसरे को दुख को मिटाने में सहयोगी न बनता हो और ऐसा आनंद कमजोर और नपुंसक है जो डरता हो कि मैं दूसरे का दुख मिटाने की कोशिश करूंगा तो नष्ट हो सकता हूं मेरा आनंद नष्ट हो सकता है जो शांति दूसरे की अशांति को मिटाने में नष्ट हो जाती हो ऐसी शांति की दो कोड़ी भी कीमत नहीं तो एक तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक युवक भारत के प्रत्येक साधु संत को मजबूर कर दे इस समाज को बदलने के लिए उत्सुक कर दे युवक क्रांति दल यूथ फोर्स के लिए पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के सतपुरुष को पकड़ो और उसे कहो कि जिंदगी में आओ हम तुम्हें जिंदगी से भागने नहीं देंगे बहुत हो चुका तुम जिंदगी से भागे हजारों वर्ष से तुम जिंदगी से भागते रहे और हम तुम्हारी पूजा करते रहे अब नहीं ये होगा हम तुम्हारी पूजा करेंगे लेकिन भागो मत जिंदगी में आओ जिंदगी रद्दी से रद्दी होती चली जा रही और तुम अपना मोक्ष ही खोजते रहोगे अगर हम हिंदुस्तान के एक एक साधु को मजबूर कर दें और प्रार्थना करें और खींच लें जिंदगी में तो इस देश के साधु को 20 वर्षों में बदला जा सकता है कोई बहुत कठिनाई नहीं है पचास लाख सन्यासी भारत में है पचास लाख सन्यासी अगर उत्सुक हो जाए जिंदगी को बदलने को तो दुनिया में इतनी बड़ी शक्ति कहीं भी नहीं है किसी के पास भी नहीं है लेकिन वो पचास लाख सन्यासी क्या कर रहे हैं वो पचास लाख सन्यासी अपने अपने स्वार्थ में रत हैं आप अपनी दुकान पे अपने स्वार्थ में रत हैं कि अपने लिए धन कमा रहे हैं वो अपने स्वार्थ में रथ हैं कि अपने लिए सुख कमा रहे हैं लेकिन स्वार्थ में कोई भी फर्क नहीं है और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका स्वार्थ बहुत छोटा और साधारण है उनका स्वार्थ बहुत गहरा और मजबूत है आप अगर दुकान पर रोटी भी कमा रहे हैं तो आपकी रोटी की कमाई आपके धन की कमाई 150 लोगों का हित बनेगी आपके बच्चे होंगे आपकी पत्नी होगी आपके मित्र होंगे और आप जो समाज में संपत्ति पैदा करेंगे वो भी न मालूम कितने लोगों के लिए रोटी रोजी देने का कारण बनेगी लेकिन एक साधु जिस शांति को पहुंचता है वो शांति न उसकी पत्नी को मिलती ना उसके बच्चे को ना उसके मित्रों को वो शांति निपट उसकी अपनी साधु का स्वार्थ तोड़ना पड़ेगा साधु को प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हम साधु तुम्हें तभी मानेंगे जब तुम्हारा सुख हमारे लिए बटने को आतुर हो तुम्हारी शांति की खोज हमारे भी आनंद की खोज में सहयोगी बने और तुम्हारे जीवन में जो क्रांति हुई है वो चिंगारी हमारी समाज को भी बदल देने का आधार बने तो ही हम पूजा देंगे अन्यथा अब हम ये पूजा बंद कर दें हिंदुस्तान में आने वाले भविष्य में साधु को पूजा मिलनी बंद हो जानी चाहिए अगर वो साधु जिंदगी से आंखें बंद करके भागता है उससे तो हम आशा कर सकते हैं कि जिसने भीतर कुछ पाया हो वो बाहर के लोगों के लिए भी कुछ करे उससे भी आशा ना हो तो फिर किससे आशा हो सकती है भारत का सारा अतीत स्वर्ण युग बन सकता था लेकिन जो उसे स्वर्ण युग बना सकते थे वे सारे लोग पीछ फेर कर चले गए जिंदगी तो चलेगी काम तो चलेगा चाहे कोई भाग जाए चाहे कोई जंगलों में छिप जाए कोई और चलाएगा जिंदगी को मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया के दूसरे राष्ट्र हमसे आगे हैं क्योंकि उनकी प्रथम कोटि का आदमी राष्ट्र को चलाता है हमारा हमेशा द्वितीय और तृतीय कोष्टि का आदमी राष्ट्र को चलाता है प्रथम कोटि का आदमी भाग जाता है जो फर्स्ट रेट माइंड है हमारे मुल्क का वो भाग जाता है सेकंड रेट थर्ड रेट मुल्क को चलाते हैं निश्चित ही जिन मुल्कों को फर्स्ट रेट माइंड चलाता है हम उनके मुकाबले खड़े नहीं हो सकते हम कैसे खड़े हो सकते हैं उनके मुकाबले उनके मुल्क को चलाने वाली जो सूझ है वो प्रथम कोटि के मस्तिष्क से आती है हमारा प्रथम कोटि का मस्तिष्क आंखें बंद करके बैठ जाता है द्वितीय और तृतीय कोटि के लोग मुल्क की नौका को हजारों साल से चला रहे हैं हम दुनिया में पिछड़ते चले गए हम प्रथम कोटि के लोगों के सामने द्वितीय तृतीय कोटि के लोगों को नहीं टिका सकते ये पहली बात ध्यान में रख लेनी जरूरी है कि भारत की प्रथम कोटि की प्रतिभा को समाज के जीवन में उत्सुकता लेनी और डर क्या है उसे अगर तुम्हें अपना आनंद मिल गया है तो तुम घबराते क्यों हो जो आनंद खो सकता हो उस आनंद का कोई भी मूल्य नहीं और जो आनंद एक विशेष सिक्लूजन में एक खास स्थिति में बना रहता हो अपनी झोपड़ी में बैठकर या गुफा में बैठकर या अपने मंदिर के दरवाजे बंद करके जो आनंद बना रहता हो वह आनंद धोखा है आनंद की कसौटी ये है कि जहाँ जिंदगी दुख से जूझ रही है वहां खड़े हो जाओ और वहाँ आनंद बना रहे तो समझना कि वह आनंद आत्मिक है अन्यथा समझना कि वो आनंद आत्मिक नहीं है वो आनंद है ही नहीं वो केवल दुख की स्थितियों से बच जाना है एक आदमी दुकान पे बैठा है परेशान है बच्चों की चिंता करनी पड़ती है उन्हें पढ़ाना है वो बीमार है घर की चिंता करनी पड़ती है दस लोगों की चिंता उठानी पड़ती परेशानी है वो दसों की चिंता छोड़ के जंगल में भाग जाता है सोचता है बड़ा आनंद मिला आनंद नहीं है ये सिर्फ दस आदमियों की चिंता का अभाव है और ध्यान रहे जो आदमी दस आदमियों की चिंता छोड़कर भागता है वो आदमी उस आदमी से बदतर है जो दस आदमियों की चिंता का बोझ उठाता है और ढोता है और ये सोचता हो कि मैं आनंद में पहुंच गया तो गलती में है यह आदमी आनंद में नहीं पहुंच गया इस आदमी ने जो दायित्व थे जिंदगी के वो दायित्व भर छोड़ दिए ये आदमी इनरिस्पॉन्सिबल हो गया ये उत्तरदायित्वहीन हो गया है और अगर इसे सच में आनंद मिल गया है तो वापस लौट आओ जिंदगी पुकारती है यहाँ यहाँ जरूरत है वहां जंगल में बैठने की कोई जरूरत नहीं परमात्मा तुम्हें मिल गया है तो आ जाओ और इन सारे लोगों को भी परमात्मा की खोज में संलग्न करो लेकिन नहीं हमारा साधु कहता है वो नहीं आएगा अगर हिंदुस्तान के युवक इसको और आगे बर्दाश्त करते हैं तो इसने मुल्क की रीढ़ को तोड़ दिया है ये मुल्क के भविष्य को बिल्कुल पूर्ण कर देगी ये बात हिंदुस्तान के युवकों को प्रार्थना करनी चाहिए कि मंदिरों से हम खींच कर ले आए उनको जो वहां बैठे जंगलों से खींच लाए उनको जो वहां बैठे उनको खींच लाए जो जिंदगी से भाग गए नहीं हम उनसे कहते हैं कि तुम जिंदगी में आके दुकान चलाओ नहीं हम उनसे कहते हैं कि तुम जिंदगी में आकर हम जैसे हो जाओ लेकिन इतना तो हम उनसे कह सकते हैं कि तुम्हें जो मिल गया है वो हमें भी मिल सके तुमने जो पा लिया है जिन सूत्रों पर तुमने अपनी जिंदगी को बदल लिया है ये पूरा समाज भी उन सूत्रों पर जिंदगी को बदल सके और अब तुम्हें मिल गया है अब तुम अपनी चिंता छोड़ दो हमारी चिंता करो जिन्हें की नहीं मिला लेकिन ऐसा लगता है कि हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया भारत के समाज ने साधु की पूजा की साधु का कोई उपयोग नहीं किया हाँ एक उपयोग किया है कि साधु व्याख्यान देता है और समझाता है हमें वो क्या समझाता है वो समझाता है जिस भांति मैं छोड़ के भाग गया हूँ उसी भांति तुम भी छोड़ के भाग आओ तुम कहा पाप में पड़े हुए हो तुम कहां जिंदगी को गमारी में गमा रहे हो हम बड़े आनंद में हो गए तुम भी भाग आओ हालांकि वो अच्छी बात ही जानता है कि वो आनंद में जिंदगी गुजार रहा है क्योंकि इतने लोग श्रम कर रहे हैं अन्यथा ये पचास लाख लोग एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते कोई आदमी दुकान कर रहा है दुकान पे पाप कर रहा है एक इसलिए एक आदमी स्थानक में या मंदिर में बैठा हुआ आनंद कर रहा है न इसे रोटी मिलेगी न इसे कपड़ा मिलेगा न ये जी सकता है एक दिन या तो साधुओं से कह दिया जाना चाहिए कि तुम चले जाओ हिमालय फिर मत लौटना फिर ठीक है हमसे संबंध ही टूट गया लेकिन कोई साधु बंबई छोड़ के नहीं जाना चाहता बंबई में ही रहना चाहता है मोहल्ले बदल लेता है बहाने कर लेता है कि माटुंगा से घाटों पर चला गया तो गांव बदल गया बेईमानी की भी हद होती है बंबई में ही जमे हुए हैं वर्षों से और समाज को छोड़ दिया है इन्होंने बंबई का ही शोषण करते रहेंगे और ये भीतर की शांति में लीन हो गए हैं और इनकी भीतर की शांति को जिंदगी का इतना कुरूपता नहीं दिखाई पड़ती जिंदगी की बेईमानी नहीं दिखाई पड़ती जिन नेताओं की वजह से मुल्क सड़ रहा है उनकी ये साधु सन्यासी खुशामत करते रहेंगे उनके साथ चित्र उतरवाने में आनंदित होते रहेंगे और इनको आनंद मिल गया और परमात्मा मिल गया जिनको परमात्मा मिल जाएगा उनकी जिंदगी एक आग बन जाती है उनकी जिंदगी एक पुकार बन जाती है सब कुछ बदल डालने की एक तीव्र आकांक्षा बन जाती है लेकिन हमने साधु सन्यासियों के साथ अद्भुत मामला किया हुआ है ये मैं पहली बात कहना चाहता हूं कि युवक क्रांति दल युक्रांत या यूथ फोर्स सारे मुल्क में एक ताकत इकट्ठी करें और साधुओं को कहें कि हमारी जिंदगी को बदलने के लिए संलग्न हो जाओ अगर हम पचास वर्षों तक हिंदुस्तान के साधु को संलग्न करने के लिए राजी हो जाए हिंदुस्तान की जिंदगी में सुगंध आ जाएगी हिंदुस्तान की जिंदगी कुछ और हो जाएगी साधु के पास बड़ी शक्ति है लेकिन साधु की सारी शक्ति एक काम में लगती है कि वो आपसे अपनी पूजा कैसे करवा ले उसकी सारी शक्ति इसमें नष्ट होती है बड़ी शक्ति है उसके पास लेकिन सारी ताकत इसमें लग रही है कि वो आपसे पूजा कैसे करवा ले और हम भी ऐसे मूड हैं कि जिसकी कोई हिसाब नहीं है कोई हिसाब रखना मुश्किल हमारी मूलता कैसी हम साधु का एक ही काम कर रहे हैं पूजा करने का और अगर वो पूजा के योग नहीं ठहरता तो निंदा करने का इसके सिवाय हम उससे और कोई उपयोग नहीं ले रहे या तो साधु की निंदा होती या प्रशंसा होती ये दोनों बातें फिजूल हैं न निंदा की कोई उपयोग है न प्रशंसा का कोई उपयोग है और साधु पूरे वक्त कोशिश में लगा है चारों तरफ देखने में कि आप किन किन बातों से आदर देते हैं वो बेचारा वही वही बातें किए चला जा रहा है आप कहते हैं कि आदमी नंगा खड़ा होगा तो हम आदर देंगे तो वो बेचारा नंगा खड़ा है आप कहते हैं एक दफा खाना खाएगा तो एक दफा खाना खा रहा है आप कहते हैं स्त्री को नहीं छुएगा तो वो स्त्री को नहीं छू रहा है आप जो कहते हैं वो बेचारा कर रहा है क्योंकि उसको आदर चाहिए और आपके आदर देने की शर्तें हैं और वो उन शर्तों का पालन करने में पूरी जिंदगी गंवा रहा है वो उन शर्तों का पालन करेगा आप आदर दे देंगे नहीं कर सकेगा आदर छूट जाएगा इतना समाज का और साधु का संबंध है इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं है और वो आपको 24 घंटे समझाता रहेगा कि तुम भी भाग जाओ जिंदगी से और जितनी वो आपको गाली देगा उतना अच्छा लगेगा जितना वो कहेगा कि पापी हो नरक में सड़ोगे उतना लगेगा कि बड़ी हित की बातें कर रहा है नरक से बचाने की कोशिश कर रहा है साधु अगर हिंदुस्तान के जीवन में उत्सुक नहीं होते हैं और हिंदुस्तान में जो साधु मना लोग हैं वो भी साधु होते चले जाते हैं तो हिंदुस्तान की आत्मा खो जाती है ये कल्पना करना भी हैरानी से भर देता है मन को कि अगर हिंदुस्तान के पांच हजार वर्ष के साधुओं ने जिंदगी को बदलने की कोशिश की होती सिर्फ आदर पाने की चिंता न की होती और ध्यान रहे जिंदगी को बदलने वाला आदमी आदर मुश्किल से पा सकता है अनादर आसानी से पा सकता है क्योंकि जिंदगी को बदलने का मतलब है वेस्टेड इंटरेस्ट को वो जो न्यस्त स्वार्थ है उसको बदलना और तोड़ना जिंदगी को बदलने का मतलब है जिनके हाथ में ताकत के पद हैं उनसे विरोध लेना जिंदगी को बदलने का मतलब है कि जो आज हावी है समाज पर उससे दुश्मनी लेना क्योंकि जिंदगी बदलती है तो जो आज हावी है वो नीचे गिर जाएगा जो पदों पर है वो बिना पदों के हो जाएगा जो आज शोषण कर रहा है वो शोषण नहीं कर सकेगा जो आज गर्दन दबाया है उसके हाथ से गर्दन छूट जाएगी जिंदगी को बदलने का मतलब है समाज का जो ऊपर का वर्ग है उस वर्ग से विरोध लेना और जिंदगी से आदर पाने का एक ही सूत्र है कि समाज के ऊपर के वर्ग को प्रसन्न रखना अगर ऊपर के वर्ग को प्रसन्न रखना है तो जिंदगी कभी नहीं बदली जा सकती लेकिन आदर बहुत मिल सकता है साधु को दो बातों में से एक बात तय करनी है या तो वो जिंदगी को बदलने के लिए आकर होगा और आदर को लात मार देगा हो सकता है लोग उसे संत कहने ना आए फिर हो सकता है कहें कि महात्मा पहले हम तुम्हें महात्मा समझते थे लेकिन अब बात खत्म हो गई अब तुम महात्मा नहीं ये हमें पता नहीं है कि समाज की जो मैकेनिज्म है समाज का जो यंत्र है वो तरकीब से चलता है वो तरकीब ये है कि समाज का न्यस्त स्वार्थ जिसके हाथ में स्वार्थ के मुद्दे हैं जो नहीं चाहता कि समाज जरा भी बदले चाहे धर्म गुरु हो चाहे राजगुरु हो चाहे राजनेता हो चाहे धनपति हो चाहे और तरह के प्रतिष्ठित लोग हों जो नहीं चाहते कि समाज बदले वो समाज की प्रतिभा को आदर देते हैं रुस्बत में ताकि समाज की प्रतिभा समाज को बदलने की कोशिश न करे और अगर समाज की प्रतिभा समाज को बदलने की कोशिश करती है वो अनादर देना शुरू कर देते हैं और एक एक आदमी के भीतर इतना अहंकार है कि झंझट की झंझट लो और पूजा भी छोड़ो बिल्कुल पागलपन है लेकिन साधु से हम आशा कर सकते हैं कि वो आदर की फिक्र नहीं करेगा क्योंकि आदर की फिक्र वही करता है जो अपने अहंकार का पोषण करना चाहता है आदर की क्या फिक्र है आदर की चिंता का अर्थ एक ही है कि जो अपने अहंकार का पोषण करना चाहता है आदर अहंकार का भोजन है मैं आपसे आदर मांगूंगा अगर मुझे अहंकार का भोजन भरना है और अगर अहंकार का भोजन मुझे भरना है तो कहाँ की आत्मा कहाँ का परमात्मा कहाँ की शांति कहाँ का आनंद अहंकार ही तो दुख है हिंदुस्तान के साधु को समझाना है कि बहुत पूजा तुम ले चुके अब हम उसी को साधु कहेंगे जो पूजा लेने से इंकार करता है अब हम उसी को साधु कहेंगे जो अनादृत होने को तैयार है जो आदर की चिंता छोड़ता है अब हम उसी को साधु कहेंगे जो समाज की जिंदगी को बदलने के लिए आतुर है अब हम उसी को साधु कहेंगे जो परमात्मा का इस काम को करने के लिए आगे आता है अब साधु से सिर्फ प्रवचन नहीं सुनने हैं अब साधु से हमें जीवन में क्रांति भी चाहिए हिंदुस्तान के साधु ने क्रांति तो नहीं लाई हिंदुस्तान का साधु प्रति क्रांतिवादी रिएक्शनरी साबित हुआ है हिंदुस्तान का साधु जितने जोर से क्रांति को रोकता है उतना कोई भी नहीं रोकता इसलिए क्रांति का रुकना जिनके हित में है वो साधु को आदर देते हैं क्योंकि साधु मुद्दा है क्रांति को रोकने का वो गढ़ है जहां से क्रांति रुकती है और इसलिए हिंदुस्तान के पांच हजार वर्षो में एक भी क्रांति नहीं हुई न कोई वैचारिक क्रांति न कोई सामाजिक क्रांति न कोई राजनीतिक क्रांति न कोई सांस्कृतिक क्रांति दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्रांतियां होती रही हिंदुस्तान में क्रांति क्यों नहीं हुई हिंदुस्तान में क्रांति नहीं हुई क्योंकि क्रांति और समाज के बीच में साधु की बहुत शक्तिशाली जमात खड़ी है जो दुनिया में और कहीं भी नहीं फ्रांस में क्रांति हो सकी रूस में क्रांति हो सकी साधु की जमात नहीं है समाज के और क्रांति के बीच में साधु एक अद्भुत काम कर रहा है रेल के डब्बों में बफर लगे होते हैं बीच में उसकी वजह से धक्का नहीं लगता कार में स्प्रिंग लगे होते हैं उनकी वजह से रास्ते के झटके नहीं लगते साधु इस हिंदुस्तान के समाज में स्प्रिंग और बफर का काम कर रहा है उसकी वजह से क्रांति का कोई धक्का समाज तक नहीं पहुंच पाता ये हालत बदलनी पड़ेगी युवक किसको बदल सकते हैं कैसे बदल सकते हैं एक तो निर्णय करो कि साधु को आदर तब देंगे जब वो जिंदगी में रस लेगा और जिंदगी को बदलने के लिए तैयार होगा और जिंदगी को बदलने को ही प्रार्थना और साधना मानेगा तब हम आदर देंगे नहीं तो नहीं देंगे आदर अगर युवकों की जमात ये तय कर ले तो साधु को दो वर्ष के भीतर रास्ते पर लाया जा सकता है कि तुम रास्ते पर आ जाओ और जिंदगी को बदलने की फिक्र करो लेकिन युवक एक भूल कर रहे हैं युवक साधु से दूर ही चले गए वृद्धजन साधु के चरण छू रहे हैं युवक साधु के पास ही नहीं जाते युवकों को साधु के पास जाना चाहिए पैर छूने नहीं साधु को जिंदगी और समाज में खींच लाने के लिए और जरूर पैर छूना जिस दिन साधु जिंदगी को बदलने के लिए आदर हो जाए तो उसे आदर देना क्योंकि वो बहुत अनादर झेलने को राजी हो रहा है लेकिन ये करना पड़ेगा इतनी बड़ी जमात है युवकों की अगर युवक निर्णय करेंगे और एक सत्याग्रह की धारणा उनके मन में होगी कि हम साधु को जिंदगी में खींच के ले आएंगे तो बदलाहट हो सकती बर्टन रसल ने एक लेख लिखा है उस लेख का शीर्षक मुझे बहुत पसंद पड़ा उस लेख का शीर्षक है उसमें लिखा है शीर्षक में the harm that good men do मैं बहुत हैरान हुआ कि कैसा शीर्षक है नुकसान जो अच्छे आदमी पहुंचाते हैं अच्छा आदमी भी कभी नुकसान पहुंचाता है कभी सुनी आपने ये बात बुरे आदमियों ने उतना नुकसान कभी नहीं पहुंचाया क्योंकि बुरा आदमी कमजोर होता है बुरे आदमी की ताकत क्या है बुरा आदमी दुनिया को ज्यादा नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि बुरे आदमी के पास ताकत नहीं होती आत्मा नहीं होती दुनिया को नुकसान हमेशा अच्छा आदमी पहुंचाता है क्योंकि अच्छे आदमी के पास ताकत होती बल होता है अच्छा आदमी दुनिया को लाभ भी पहुंचा सकता है नुकसान भी नुकसान वही पहुंचा सकता है जो लाभ पहुंचा सकता है जो लाभ नहीं पहुंचा सकता वो नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता इसको समझ लेना जरूरी है बुरा आदमी कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता दुनिया को तो ध्यान रहे जिसकी लाभ पहुंचाने की कोई ताकत नहीं है उसके नुकसान पहुंचाने की भी कोई ताकत नहीं हो सकती और जितने दूर तक वो नुकसान पहुंचा सकता है उतने ही दूर तक लाभ पहुंचा सकता है लाभ और नुकसान पहुंचाने की ताकत एक होती है उस लाभ भी पहुंचाया जा सकता नुकसान भी पहुंचाया जा सकता अच्छा आदमी नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि अच्छा आदमी लाभ पहुंचा सकता है पहला नुकसान तो वो ये पहुंचा सकता है कि लाभ ना पहुंचाए पहला नुकसान तो वो ये पहुंचा सकता है कि लाभ न पहुंचाए बस रुक जाए लाभ न पहुंचाए तो भारी नुकसान हो जाएगा और कोई उससे कहने भी नहीं जाएगा कि आपने हमें नुकसान पहुंचाया क्योंकि नेगेटिव उसने कोई पॉजिटिव नुकसान नहीं पहुंचाया समझ लें कि गांधी भी सन्यासी हो जाते और हिमालय चले जाते तो कोई जुम्मा नहीं ठहरा सकता था कि गांधी को आपने कितना नुकसान पहुंचाया आज हम कहते हैं कि गांधी ने कितना फायदा पहुंचाया लेकिन अगर गांधी गेरुआ वस्त्र पहन के जंगल में चले जाते तो आप कहने जाते कि आपने कितना नुकसान पहुंचाया हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि निगेटिव नुकसान का कोई पता ही नहीं चलता कि कितना पहुंच जाता है एक गांधी के हट जाने से हिंदुस्तान की जिंदगी और ही होती बिल्कुल दूसरी होती हिंदुस्तान की आत्मा नहीं खड़ी हो पाती एक गांधी के हट जाने से यह हालत हो जाती कितने गांधी हिंदुस्तान में हट गए इसका हिसाब है आपको अगर वे कोई भी ना हटे होते तो ये मुल्क और ही मुल्क होता इसकी रौनक इसकी चमक और होती इसकी प्रतिभा और होती इसका बल और सब कुछ और होता लेकिन नहीं वो हट गए जो हट गए उनका हिसाब लगाना मुश्किल है लेकिन हम समझ सकते हैं कि नुकसान पहुंचा है वो क्यों हट गए और हमने क्यों हटने दिया ये समाज क्यों हटने देता है अपने अच्छे आदमी को और ध्यान रहे जब अच्छा आदमी हटता है तो उसकी जगह बुरा आदमी भर देता है जगह खाली नहीं रहती इस दुनिया में वैक्यूम नहीं रह सकता कि आप हट गए तो जगह खाली रहेगी जब अच्छा आदमी आएगा तो भर जाएगी बुरा आदमी चारों तरफ मौजूद है वो प्रतीक्षा कर रहा है कि महाराज आप हटो हम आपकी जगह आ जाए वो बुरा आदमी हटने वाले आदमी की बहुत प्रशंसा करता है कि आप बहुत मान पुरुष हैं आप हट गए आपने बड़ा अच्छा किया क्योंकि अच्छा आदमी अगर समाज में हो तो बुरा आदमी ऊंचे स्थानों पर नहीं हो सकता है अच्छा आदमी समाज में हो तो बुरा आदमी समाज को गति नहीं दे सकता है अच्छा आदमी समाज में हो तो बुरा आदमी समाज का नेतृत्व नहीं ग्रहण कर सकता है लेकिन अच्छा आदमी भाग जाता है बुरा आदमी उसकी जगह बैठ जाता है हिंदुस्तान के राजनीतिक इस बात से बहुत खुश हैं कि हिंदुस्तान का अच्छा आदमी जंगल चला जाता है क्योंकि जंगल जाता हुआ अच्छा आदमी बुरे आदमी के लिए जगह खाली कर जाता है इसलिए तो उसको गांव के बाहर लेने और नमस्कार करने जाते हैं गांव के बाहर राजनीतिक जाता है मिनिस्टर जाता है फला साधु आ रहे हैं उनका स्वागत करने फिर गांव के बाहर विदा करने भी जाता है वो जानता है कि बहुत अच्छा आदमी इसमें बड़ी कृपा की ये होता जिंदगी में तो हम यहाँ नहीं हो सकते थे जहां हम हैं ये बहुत मुश्किल था होना इसको बुरे आदमी के लिए जगह खाली की जा रही है भारत के भविष्य को बदलना है तो अच्छे आदमी को रोकना पड़ेगा मजबूती देनी पड़ेगी कि खड़े रहो भागो मत क्योंकि बुरा आदमी हम पर बहुत दिन से नेतृत्व कर रहा है वो हमें गड्ढे में गिराए चला जा रहा है गिराए चले जा रहा है अच्छे आदमी को खड़ा होना पड़ेगा जिंदगी में सब रूपों में अच्छे आदमी को खड़ा होना पड़ेगा अच्छे आदमी ने नुकसान पहुंचाया क्या हम अच्छे आदमी को जिंदगी में वापस लाने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं वो युवक क्रांति दल को सोचना और विचार करना चाहिए उस संबंध में चिंतन होना चाहिए सारे मुल्क में एक डायलॉग की जरूरत है कि पूरे मुल्क का युवक सोचे एक एक यूनिवर्सिटी कैंपस में सोचे कि हम अच्छे आदमी को कैसे रोके अच्छे आदमी की भागने की आदत इतनी प्राचीन हो गई है कि उसे तोड़ना मुश्किल है भागने में सुख भी बहुत है क्योंकि भाग गए और झंझट के बाहर हो गए युद्ध के मैदान पर लड़ना कष्टपूर्ण बात है भाग जाना हमेशा आसान है जिंदगी के मैदान पर भी वही हालत युद्ध के मैदान पर हम कायरों को सम्मान नहीं देते इसलिए बात और आदमी युद्ध के मैदान पर खड़ा रहता है जिंदगी के मैदान में हम भागने वाले कायरों को सम्मान देते हैं इसलिए जिंदगी में जिसको भी सुविधा मिलती है भागने की वो निकल पाता है जिंदगी के संघर्ष पर भी हमें उनको ही आदर देना है हमें आदर का वैल्यूएशन पूरी की पूरी वैल्यू बदल देनी उनको आदर देना है जिंदगी के मैदान में भी खड़े होकर लड़ते हैं हाँ साधु की तरह लड़ते हैं असाधु की तरह नहीं साधु की तरह लड़ने का मजा और है असाधु की तरह लड़ना बड़ा दुखद है साधु की तरह लड़ना बहुत आनंदपूर्ण है और जो साधु की तरह नहीं लड़ सकते और असाधु की तरह लड़ने से बचते हैं वो भाग जाते हैं लेकिन न वो साधु रह जाते हैं न वो असाधु रह जाते हैं वो जिंदगी को ही छोड़कर भाग गए जहां कसौटी थी जहां परीक्षा थी क्या हिंदुस्तान के चिंतन में यह क्रांति लाई जा सकती है कि हम अच्छे आदमी को रोक सके और जो अच्छा आदमी चला गया उससे भी कहें कि लौटो जिंदगी को बदलो ये जिंदगी बहुत गंदी हो गई यहाँ बगीचा सब उजड़ गया यहाँ फूल खिलने बंद हो गए तुम अपनी शांति कब तक खोजते रहोगे अगर खोज ली है तो आ जाओ और क्या ये नहीं हो सकता कि हमारी अशांति को दूर करना भी आंतरिक शांति को खोजने का मार्ग हो ये है मुझे तो दिखाई ये पड़ता है कि जो आदमी दूसरे को दुख दूर करने में लग जाता है उसके अपने दुख तत्काल समाप्त हो जाते जब तक आदमी अपना दुख दूर करने में लगा रहता है तब तक दुखी बना रहता है और जिस दिन ये संकल्प करता है कि दूसरे का दुख तोड़ूंगा उसी दिन पाता है कि भीतर से दुख मिटने शुरू हो गए क्योंकि सबसे बड़ा दुख मैं केंद्रित होना है इको सेंटर्ड होना है उससे बड़ा कोई दुख नहीं है और जो आदमी अपने पर ही सेंटर बना के जीता है कि मुझे अपना दुख दूर करना है अपनी अशांति दूर करनी अपना तनाव दूर करना है वो आदमी दुखी से दुखी होता चला जाता है क्योंकि सबसे बड़े दुख का कारण मैं और अगर एक आदमी जिंदगी के चारों तरफ के दुख को दूर करने में लग जाता है तो वो पाता है कि मैं तो टूट गया मैं तो खो गया मैं तो गया अब मैं हूं कहा इतने दुख है जिंदगी में कि किससे कहूं कि मैं भी अशांत हूं और अगर एक आदमी दूसरे का दुख दूर करने में लग जाए संलग्न हो जाए तो बड़े आश्चर्य की घटना घटती है कि उसका दुख मिटना शुरू हो जाता है क्योंकि वो खुद मिटना शुरू हो जाता है लेकिन ये ख्याल पैदा करना पड़ेगा ये खबर ले जानी पड़ेगी गांव गांव एक एक आदमी तक और केवल खबर नहीं ले जानी पड़ेगी इसके लिए कुछ सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे मैं तो चाहता हूं कि हजार हजार युवक एक एक साधु के पास जाके डेरा डाल दें गिराव डाल दें और कहें कि भागो मत जिंदगी में लौट आओ हमें बदलो यहां जिंदगी बहुत कष्ट भोग रही है यहाँ जिंदगी में बहुत अनिति है बहुत व्यविचार है बहुत अनाचार है इसको तोड़ो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है सोचो और बाहर आओ मंदिरों में हम तुम्हें नहीं रहने देंगे क्योंकि हम पूरे समाज को मंदिर बनाना चाहते हैं यहाँ आ जाओ ये बंद मंदिर छोटे छोटे क्लोज मंदिर नहीं चलेंगे हम पूरे समाज को मंदिर बनाना चाहते एक बात हिंदुस्तान के अच्छे आदमी को जिंदगी में रस लेने के लिए आतुर करना सम्मान की धारणा बदलनी और ध्यान रहे सम्मान की धारणा बदलते क्रांति हो जाती हमें पता ही नहीं कि आदमी का दिमाग कैसे चलता है राहुल शंकर टैन पहली दफा रूस गए उन्नीस सौ बत्तीस या तैतीस उनके हाथ बहुत खूबसूरत थे उनके हाथ बहुत कोमल और मुलायम थे स्त्रीण से कहना चाहिए हाथ बिल्कुल स्त्रियों जैसे थे कभी कोई काम नहीं किया था तो हाथ में कोई मजदूर के गट्ठे नहीं थे यहां तो जो भी उनका हाथ देखता था हाथ पकड़ के कहता इतना खूबसूरत इतना कोमल इतना मुलायम इतना मखमली हाथ वो पहली दफा रूस गए जिस व्यक्ति ने उनका स्टेशन पर स्वागत किया उसने हाथ मिलाया हाथ खींच दिया और कुछ इस तरह हाथ खींचा कि वो कुछ हैरान हो गए कि बात क्या है उन्होंने पूछा कि क्या बात है उसने कहा कि आपको सब जगह तकलीफ होगी जो भी आपसे हाथ मिलाएगा वो समझ जाएगा कि आदमी मुफ्त खोर यह हाथ बिल्कुल इतना लोच है कि इसने कभी काम नहीं किया आप रूस में जरा हाथ संभल के मिलाना क्योंकि हम उस आदमी को आदर देते हैं जिसके हाथ में कुछ मेहनत मजदूरी का सबूत हो नहीं तो हम मुफ्त खोर समझते हैं आदमी को आप मुफ्त खोरों में से एक मालूम पड़ते हैं राहुल ने लिखा कि रूस भर में मैं डरा रहा हाथ की प्रशंसा की तो बात दूर जिसने भी हाथ मिलाया मुझसे तो उसके चेहरे पर लगा कि आदमी मेरे हाथ के बाबत अच्छा निर्णय नहीं लेगा आश्चर्य की बात है लेकिन हम हम उस आदमी को सबसे ज्यादा आदर देते हैं जो सबसे ज्यादा कम श्रम करता हो तो फिर ठीक है तो सबसे कम श्रम करने वाले को सबसे ज्यादा आदर दोगे और मुल्क अगर काहल और सुस्त होता जाए तो फिर रोना क्यों रोने की क्या जरूरत है हमारा मूल्यांकन गलत है नेहरू जी के बाबत मुझे पता है कि उनके बाप के बाप एक चपरासी थे लेकिन उनका उन्होंने उल्लेख नहीं किया इसीलिए कि चपरासी का कैसे उल्लेख किया जाए मोतीलाल जी की बहुत चर्चा की है उन्होंने लेकिन अपने दादा की बिल्कुल चर्चा नहीं की बात ही नहीं उठाई क्योंकि दादा एक चपरासी था उसकी बात ही नहीं उठाई क्योंकि चपरासी का पोता होना बड़ी दुखद बात है और एक व्यक्ति ने यह बात उठा दी एक भाषण में कि नेहरू जी के दादा चपरासी थे तो नेहरू जी बहुत नाराज हो गए और कहने लगे तुम मेरे परिवार के संबंध में रिसर्च करते हो भी नहीं चाहता कि कोई किसी के परिवार के संबंध में रिसर्च करे ये कोई अच्छे आदमी का लक्षण नहीं लेकिन चपरासी होना कुछ बुराई भी नहीं है चपरासी होने में क्या बुराई है श्रम में बुराई है तो चपरासी होने में बुराई है मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि हमारे मूल्य क्या है उससे समाज निर्मित होता है अगर श्रम को हम आदर देंगे तो एक संकल्पशाली और श्रमिक समाज निर्मित होगा अगर श्रम शून्य को हम आदर देंगे ऐसे लोगों को आदर देंगे जो श्रम नहीं करते तो एक काहिल और सुस्त और ढीला ढाला समाज निर्मित होगा अगर हम अच्छे लोगों को आदर देंगे वो जिंदगी में सक्रिय हो तो अच्छे लोग जिंदगी में सक्रिय होंगे और अगर हम भागते हुए लोगों को आदर देंगे तो अच्छे लोग भाग जाएंगे जिंदगी में सक्रिय भी हो और अनादर भी पाओ बहुत कम अच्छे लोग इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे वो भाग जाएंगे आपको शायद पता नहीं कि गांधी को हजारों चिट्ठियां पहुंचती थी कि आप महात्मा हो के इस कहा के गोरख धंधे में पड़े हो छोड़ो इसको अपने परमात्मा की खोज करो गांधी हिम्मत पर आदमी रहे होंगे कि इन चिट्ठियों की फिक्र नहीं की वैसे चिट्ठी वाले उनको रास्ता सरलता का बता रहे थे कहाँ की झंझट में पड़े हो फिजूल जेल जाओ परेशान हो ये सब दिक्कतें उठाओ और महात्मा गिरी में भी संदेह पैदा करवाओ ये जो अगर हम यूथ फोर्स के युवक और युवतियां इस तरफ थोड़ा ध्यान दें और साधु को जिंदगी की क्रांति के लिए सैनिक बना सके तो हिंदुस्तान बदल सकता है ये पहली बात और एक दूसरी बात फिर मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा हिंदुस्तान में अच्छे आदमी को सक्रिय होना है एक सूत्र और दूसरा सूत्र हिंदुस्तान अब तक शब्दों में सोचने का आदि रहा है तथ्यों में सोचने का नहीं हम हमेशा शब्दों के खेल में खो जाते हैं हमें याद ही नहीं रहता कि शब्द और तथ्य में बहुत फर्क है फैक्ट एक बात है और शब्द बिल्कुल दूसरी बात है लेकिन यह हमारी आदत इतनी पुरानी हो गई है कि हम शब्दों में खो जाते हैं और शब्दों में विचार करने लगते हैं और शब्दों की अलग यात्रा शुरू हो जाती है और तथ्य पड़ा रह जाता है उसके में फिक्री नहीं रहती कि तथ्य क्या है फैक्ट क्या है धीरे धीरे शब्दों का एक जाल खड़ा हो जाता है और जिंदगी उदास होती चली जाती है क्योंकि जिंदगी बदलती है तथ्यों से जिंदगी शब्दों से नहीं बदलती चूंकि हम शब्दों के आदि हो गए हैं तथ्यों की हमारी आदत नहीं रही इसलिए भारत में विज्ञान पैदा नहीं हो सका साइंस पैदा नहीं हो सकी फिलोसफी तो पैदा हुई क्योंकि फिलोसफी शब्दों का खेल है साइंस पैदा नहीं हुई क्योंकि साइंस शब्दों से नहीं चलती साइंस तथ्यों से चलती फैक्ट से चलती है हिंदुस्तान का भविष्य बुरे से बुरा होता चला जाएगा अगर हिंदुस्तान में साइंटिफिक माइंड पैदा नहीं होता इसलिए यूथ फोर्स के मित्रों से मैं कहूंगा कि दूसरी मेहनत करो कि हिंदुस्तान में एक वैज्ञानिक चिंतन की धारा पैदा हो जाए बहुत फिलोसफी हमने सोच ली फिलोसफी हमें बहुत गड्ढे में ले गई बहुत खतरनाक हो गया फिलोसफी का मामला हमने शब्दों की खाल इतनी उखाड़ी कि हम भूल ही गए कि हाथ में सब्जी रह गए तथ्य ही नहीं और उनकी खाल उधेड़ते चले गए और बारीक से बारीक करते चले गए तर्क को अभी एक मैं किताब देखता था एक पश्चिमी यात्री डेनी भारत आए उसने स्वामी शिवानंद की एक किताब पढ़ी उस किताब में लिखा हुआ है कि ओम का पाठ करने से सब तरह की बीमारियां तत्काल दूर हो जाती हैं ऐसी तुम्हारे पास बहुत किताबें हैं कोई स्वामी शिवानंद का विचारों का कसूर नहीं है सब धर्मों के पास किताबें हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ो और सब दुख दूर हो जाते हैं सब बीमारियां दूर हो जाती ओम के पाठ करने से सब बीमारियां दूर हो जाती बल्कि ये भी लिखा है कि ओम का पाठ अगर कोई पूरी निष्ठा से करे तो मृत्यु को भी विजय कर सकता है मृत्यु को भी जीत सकता है वो डेनीज ने वो किताब पढ़ी तो उसको लगा कि ये तो बड़ी अद्भुत बात खोज ली है स्वामी शिवानंद ने अगर इस राज का पता चल जाए तो सारी दुनिया में मृत्यु को जीता जा सकता है बीमारियां खत्म मेडिकल कॉलेज खड़े करो और आयुर्वेद और एलोपैथी और होम्योपैथी ये सब पागल खाने बंद करो इनकी क्या जरूरत बात खत्म हो गई एक छोटा सा सूत्र मिल गया ये तो बिल्कुल फाउंडेशनल बात मिल गई इस आदमी को कि शब्द के जाप करने से सब ठीक हो जाता है वो भागा हुआ स्वामी शिवानंद के आश्रम गया उसने जाके कहा कि मैं इसी वक्त मिलना चाहता हूं मैं एक क्षण ही खोना चाहता कौन पता मर जाऊंगा और वो पाठ न सीख पाऊंगा ओम का पाठ मुझे स्वामी जी से अभी मिला दीजिए स्वामी जी के सेक्रेटरी ने कहा कि अभी मिलना नहीं हो सकता स्वामी जी बीमार है उनका डॉक्टर चिकित्सा कर रहा है आदमी कहने लगा क्या आश्चर्य स्वामी जी कभी बीमार नहीं पड़ सकते स्वामी जी बीमार कैसे पड़ सकते स्वामी जी को तो तरकीब मिल गई है बीमार तो वो ही नहीं सकते वो कभी मर ही नहीं सकते सेक्रेटरी से कहा कि तू झूठ बोल रहा है सेक्रेटरी कहने गला मैं झूठ क्यों बोलूंगा स्वामी जी बीमार है वो डॉक्टर अभी तुमको देखने गए आपको घड़ी पर अभी रुकना पड़ेगा वो डेनिस तो चकित हो गया क्योंकि स्वामी शिवानंद साधु होने के पहले डॉक्टर थे एक डॉक्टर को तो इतनी अकल होनी चाहिए कि क्या लिख रहा है क्या कह रहा है लेकिन हिंदुस्तान में यह सवाल कोई भी नहीं उठाएगा स्वामी शिवानंद के पास जाके कोई भी किताब पढ़ लेगा कहेगा वाह वाह क्या बढ़िया बात कही कोई सवाल नहीं उठाएगा कोई जाके स्वामी शिवानंद को पकड़ नहीं लेगा जिसका जवाब दीजिए और प्रयोग करके बताइए कि तथ्य कहाँ है अगर ओम के पास से मृत्यु को जीती जा सकती है तो तुम्हारे ऋषि मुनियों को कभी किसी को मरना नहीं चाहिए था वो सब मौजूद होने चाहिए एक भी मौजूद नहीं लेकिन तथ्यों में हम सोचते नहीं फैक्ट्स में हम सोचते नहीं हम सिर्फ शब्दों में सोचते और मरते चले जाते और बेवकूफी की बातें दोहराए चले जाते हैं और कभी कोई नहीं खड़े होकर कहेगा कि ये क्या कह रहे हो इसका क्या मतलब है क्या अर्थ हुआ वो आदमी तो घबरा गया क्योंकि वो आदमी तो सोच के आया था कि बहुत जिसको इलेक्सिर कहे अमृत की तरकीब मिल गई पारस पत्थर मिल गया उसमें सब कुछ जिंदगी बदल जाएगी वो तो आदमी एकदम उदास हो गया वो जब देखने गया तो उसने देखा कि स्वामी शिवानंद को दो आदमी तो पकड़ कर उठाते हैं तब वो उठते अरे उसने कहा ये क्या हुआ और उसने देखा कि आदमी तो जल्दी मरेगा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं इसकी हालत बिल्कुल खराब मगर हम कहेंगे ये आदमी नास्तिक ये आदमी धार्मिक नहीं है ये आदमी संदेह करता है स्वामी पर यह आदमी गड़बड़ विश्वास करना चाहिए संदेह नहीं करना चाहिए स्वामी कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे और अगर हम में से कोई बैठा होता वहां धार्मिक पुरुष तो वो कहता तुम समझते नहीं स्वामी लीला दिखा रहे हैं बीमार होने की ये सब लीला ये सब माया का खेल चल रहा है तुम समझ नहीं रहे डॉक्टर भी लीला है बीमारी भी लीला है स्वामी तो अमर है स्वामी कहाँ बीमार है वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है वो कभी बीमार नहीं पड़ते इतना काइयापन इतनी कनिंगनेस हमारे दिमाग में जिसका कोई हिसाब नहीं हिंदुस्तान के युवकों को इस काइयापन को आग लगा देनी है और तथ्यों में सीधे और साफ सोचने की हिम्मत पैदा करनी है कोई फिक्र नहीं हमारे बॉस से भ्रम टूट जाएंगे कोई फिक्र नहीं हमारे बॉस से चेरिस्ट इल्यूजन से हजारों साल को उनमें आग लग जाएगी लेकिन कोई फिक्र नहीं जिंदगी के जो नग्न तथ्य और सीधे और साफ उन्हें हम पकड़ सकेंगे और पकड़ सकेंगे तो उनको बदलने के लिए कुछ कर सकेंगे बीमारी बदली जा सकती है और इस बात की भी संभावना है कि किसी दिन आदमी मरने पर रोक लगा दे लेकिन ओम के पास से ये नहीं होगा ये सब संभावनाएं हैं इस बात की संभावना है कि आदमी एक ऐसा स्वास्थ्य निर्मित कर ले आज नहीं कल कि बीमारी असंभव हो जाए अगर बीमारी कम हो सकती है ज्यादा हो सकती है तो असंभव भी हो सकती है लेकिन ओम के पाठ करने से ये नहीं होगा ये तो बीमारी की कॉजलिटी को खोजने से ये तो बीमारी के क्या कारण है स्वास्थ्य का क्या राज है उस दिशा में सारे तथ्यों की खोज करने से आज नहीं कल ये हो सकता है कि मनुष्य स्वस्थ जिए बीमारी एक रेयर घटना हो जाए कभी कोई आदमी बीमार पड़े आजकल उल्टा है कभी कोई आदमी स्वस्थ होता है इससे उल्टा हो सकता है इस बात की संभावना है कि उम्र लंबी की जा सके इस बात की भी संभावना है कि मृत्यु को बहुत दूर तक खेला जा सके अनंत तक खेला जा सके लेकिन ओम के पाठ से ये नहीं हो जाएगा और जो कौम ये समझती रहेगी कौम के पाठ से हो जाएगा वो कौम कभी तथ्यों को नहीं खोजेगी इधर बीमारी में मरेगी उधर किताबों में लिखेगी कि ओम के पाठ से सब बीमारियां दूर हो जाती हमसे ज्यादा बीमार दुनिया में कोई भी नहीं हमसे ज्यादा अस्वस्थ कोई नहीं हमसे ज्यादा कम उम्र का कोई समाज नहीं और हमसे ज्यादा ऊंची बातें सब किसी को पता नहीं कि उम्र के पाठ से सब ठीक हो जाए इन दोनों कंट्राडिक्शन को कभी देखते हैं फिर मुझे ख्याल आता है कि शायद हम बहुत बीमार हैं बहुत अस्वस्थ हैं और कुछ खोज भी नहीं पाते इसलिए इस तरह की बेईमानी की तरकीबें किताबों में लिख के मन को राहत देते संतोष देते अरे ओम के पाठ सब ठीक हो जाए नहीं इस तरह नहीं चल सकता है आगे वैज्ञानिक बुद्धि चाहिए और वैज्ञानिक बुद्धि पैदा होती है थिंकिंग इन फैक्ट्स तथ्य क्या है उनको पकड़ो और उगाड़ो शब्दों की खोल को छोड़ो शब्द चाहे कितने ही पुराने कितने ही सेक्रेट कितने ही महापुरुषों के कहे हुए हों शब्द शब्द हैं उनको खोलो पीछे और खोजो अगर तथ्य न मिले तो शब्दों को फेंक दो हिंदुस्तान के ऊपर शब्दों का भारी कचरा जमा हुआ है उस शब्दों को उधार के अलग कर देना है नीचे तथ्य न मालूम कहां खो गए उनको पकड़ के खोज निकालना है तो शायद हम जिंदगी को बदलने का कुछ ख्याल कर सके लेकिन हर तरफ ये बात है हर तरफ ये बात है आदमी गरीब क्यों है तो हम कहेंगे कि पुनर्जन्म की वजह से गरीब है कोई फिक्र नहीं करेगा कि गरीबी की क्या वजह है खोजें जाएं देखें कि गरीब आदमी गरीब क्यों है हमें तो पता है शब्द हमें मालूम है कि पिछले जन्म में इसने बुरे कर्म किए इसलिए गरीब एक साधु से लेकर पूरे पचास लाख साधु पूरे मुल्क को ये समझा रहे हैं कि आदमी इसलिए गरीब है कि उसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए इस झूठ को तोड़ने के लिए कोई खड़ा नहीं है कि सरासर झूठ की बात है लेकिन ये झूठ पूंजीवाद को टिकने के लिए आसरा बनता है इसलिए पूंजीपति कहेगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज यही तो है असली बात कि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से धनपति हैं वो आदमी अपने पिछले जन्मों की वजह से गरीब है इसमें हम क्या कर सकते हैं वो क्या कर सकता है अच्छे कर्म करेगा तो आगे वो धनपति हो जाएगा हम बुरे कर्म करेंगे तो हम आगे गरीब हो जाएंगे सुरक्षा समाज की बन गई और 50 लाख साधु इस सुरक्षा को बना रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं वो बफर वो स्प्रिंग का काम कर रहे हैं जिंदगी को चोट ही नहीं लगने देते गरीब आदमी को ख्याल ही पैदा नहीं हो पाता कि गरीबी सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है अमीर आदमी को भी ख्याल नहीं हो पाता कि अमीरी सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है और मजे की बात यह है कि गरीब भी दुखी है और अमीर भी दुखी है और दोनों का दुख सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जब तक समाज गरीब है तब तक कोई अमीर आदमी सुखी नहीं हो सकता यह संभव है कि पूरा गांव बीमारी से भरा हो कैंसर और कोड़ गांव भर में फैले हों और एक आदमी अपने बंगले की बड़ी परकोटा उठा के उसके भीतर स्वस्थ बच सके यह संभव है और अगर बचेगा तो ना रात सो सकेगा ना दिन सो सकेगा रात भर पहरेदार लगा के रखने पड़ेंगे दिन भर कि कहीं कोई बीमारी भीतर न घुस जाए वो इतनी चिंता में रहेगा सुरक्षा की कि सुरक्षा खत्म हो जाएगी सुरक्षा में इतना चिंतित हो जाएगा कि कैसे सुरक्षा करूं आप आसानी से अगर आपके पास पैसा है या मेरे पास पैसा है तो आसानी से पैसे को नहीं बचा सकता हूँ चारों तरफ इंतजाम करना पड़ेगा और इतना इंतजाम करना पड़ेगा उस इंतजाम में मैं गिर जाऊंगा और कैदी हो जाऊंगा और जिंदगी एक मुसीबत हो जाएगी अमीर मुसीबत में है अमीरी की वजह से गरीब मुसीबत है गरीबी की वजह से और दोनों मानते हैं कि पिछले जन्म का मामला है इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता और पिछले जन्म का मामला आपको कैसे पता चला क्योंकि किताब में लिखा मजे की बात है किताब में लिखे होने से कोई चीज सच हो जाती पहले तो किताब में लिखे होने से सच हो जाती थी आजकल तो बात और बदल गई अखबार में लिख जाए तो भी सच हो जाती पहले तो कम से कम थोड़ा सा हिसाब था कि कृष्ण की किताब है कृष्ण कम से कम सच ही कहेगा लेकिन जन्मभूमि भी सच हो सकती है फिर बड़ा मुश्किल मामला फिर बड़ा मामला मुश्किल है अक्षर छपा हुआ कुछ हमें ऐसा प्रभावित करता है कि छपा हुआ होने का मतलब सत्य होना होता है छप गया कि सत्य हो गया इस छपे अक्षर का जादू खत्म करना चाहिए अक्षर का ही जादू खत्म करना चाहिए शब्द का ही जादू खत्म करना चाहिए तथ्य खोजने चाहिए क्या फैक्ट्स हो सकते हैं क्या तथ्य हो सकते हैं लेकिन तथ्यों के बाबत हमारी कोई खोज नहीं कोई खोज नहीं है समझदार से समझदार आदमी कुछ भी आके कह देगा कि फला आदमी ने कहा है फला किताब में लिखा है फला अखबार में छपा है फिर वो कोई फिक्र नहीं करेगा कि तथ्य क्या हो सकते हैं शब्दों में जीने वाला समाज झूठ में जीने लगता है अगर इस समाज को जीवन के सत्य की तरफ ले जाना है तो हमें शब्दों के जाल को तोड़कर तथ्यों की खोज करनी चाहिए ये दूसरी बात कहना चाहता हूं अच्छे आदमी को आतुर करो जिंदगी को बदलने को और पूरे समाज को तैयार करो कि वो तथ्यों को देखे शब्दों में अब और न भरमाए अगर ये दो काम हो सकते हैं तो भारत की जिंदगी में एक अद्भुत क्रांति हो सकती है मैं बहुत आशा से भरा हुआ हूं कि ये हो सकता है लेकिन ये आशा जवान आदमी की तरफ देखकर थोड़ी सी ढीली पड़ जाती आशा मेरे भीतर बहुत है कि ये हो सकता है लेकिन जब जवान आदमी को देखता हूं तो बहुत ढीला पड़ जाता वो जवान आदमी ठीक से जवान ही नहीं मालूम पड़ता वो समझ रहा है कि जवानी का मतलब ये है कि टाइम नहीं लगा के और अच्छे कपड़े पहन के घूमने निकल पड़े तो जवान हो गए कि सीटी बजाना आ गया तो जवान हो गए बेवकूफ हो कहीं ऐसे कहीं सीटी बजाने से कोई जवान हो जाता है एक फिल्मी गाने की तर्ज सीख लिए तो जवान हो गए जवानी एक बहुत गहरी जिंदगी और ताकत की बात है और बड़े साहस और बड़े एडवेंचर की है जवान आदमी का मतलब है को कुछ करने की प्रेरणा से भरा है जवान आदमी का मतलब है कि जिंदगी को जैसा उसने पाया वैसा ही नहीं छोड़ देगा बदलेगा नया करेगा जवान आदमी का मतलब है कि जिस बगीचे में फूल नहीं उगते वहां फूल लाने की कोशिश करेगा खप जाएगा खाद बन जाएगा और फूलों को ला देगा जवान आदमी का मतलब है कुछ करने की हिम्मत कुछ करने की आकांक्षा जवानी का मतलब है कोई प्यास जवानी का मतलब है कोई अभीपसा जवानी का मतलब है कि मैं जैसा हूं समाज जैसा है वैसा ही होने को राजी नहीं हूं बदलूंगा जवानी का मतलब है क्रांति जवानी का मतलब है क्रांति उसका मतलब है रेवोल्यूशन उसका मतलब है कि रेवोल्यूशनरी माइंड तो युवक क्रांति दल या आपकी यूथ फोर्स के मित्र युवक और युवतियां हिंदुस्तान में एक जवान आदमी को तैयार करे एक जवानी पैदा करें और जिंदगी को बदले परमात्मा की सारी कृपा उनको उपलब्ध होगी जो जिंदगी को बदलने को उत्सुक है लेकिन परमात्मा की सुनता कौन है वो शायद चिल्ला रहा है कि बदलो बदलो बहुत कचरा इकट्ठा हो गया लेकिन कोई सुनता नहीं कि मेरी थोड़ी सी बातें आपने सुनी ये भी बड़ी कृपा है कोशिश तो बहुत चलती है कि मेरी बात ही आप ना सुन पाओ लेकिन सुन लेते हैं आप मेरी बात ही बड़ी कृपा है मैं नहीं कहता कि मेरी बात मान लेनी चाहिए मैंने जो कहा उस पर सोचना चाहिए ठीक हो ठीक गलत हो गलत गलत हो उसको भूल जाना चाहिए ठीक हो तो ठीक होने का एक ही मतलब होता है कि जो चीज ठीक लगे अगर ठीक लगी है तो उसके लिए कुछ करना चाहिए अन्यथा वो ठीक नहीं लगी फिर अच्छा है कि समझ लो कि ये बातें गलत है और अगर भूल से भी यह ख्याल आता है कि ये बातें ठीक है तो फिर आपके आदमी होने का सबूत इससे मिलेगा तो उन ठीक बातों के लिए आप क्या करते हैं इतने प्रेम से सुनी मेरी बातें उससे अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार